दुआ संख्या इसके बाद राम चरण पंकजोर धरऊ

चार त्याग मद बस नहीं न नहीं सोह सुरारी सब भूषण भूषित वर नारी राम विमुख संपति प्रभुतारी जाई रही पाई बिन पाई सजन मूल दिन सर नाही बरस गए पुन पवन सुखाही सुन दस कंठ कहूँ पन रोपी विमुख राम प्रापा नहीं कोटी शंकर साहस विष्णु अज तो सकंद राति राम कर द्रोही मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागौतमयभिमान् भजौ राम रघुनायक पासुन्दु भगवान् भगवान भगवान् राम चंद्र निर्माण करेंगे लंका है रावण का दरबार हनुमान जी वहाँ बांध करके प्रस्तुत कर दिए गए <clears throat> रावण ने हनुमान जी से पूछा कि तुम कौन हो किसके बल पर तुमने ये सब पेड़ पौधे सब उखाड़े हनुमान जी ने सब उसका वर्णन किया भगवान की महिमा सुनाई और <clears throat> रावण ने जो कुछ पूछा तो सब हनुमान जी ने बताया और उसके बाद में हनुमान जी उनको जो रावण को अपनी सलाह देने कि हमारे विचार से तुमको क्या करना चाहिए वो हनुमान जी उनको समझा रहे हैं रावण को तो देखो तुम सीता जी को भगवान श्री राम जी को वापस कर दो और भगवान की शरण में जाओ तो वे तुम्हारी भूल को तुमने जो गलती की उसे भुला देंगे और शरण में आए कि भगवान रक्षा करते हैं ऐसा विचार करके तुम निर्भय होकर के भगवान की शरण में जाओ ये शिक्षा उसको आगे हनुमान जी कहते हैं तो <clears throat> ये शब्द को परमार्थ की बातें सभी हनुमान जी समझा रहे रावण को <clears throat> और हनुमान जी पूरा बल लगा करके उसको सब तरह से समझाने की कोशिश करते हैं <clears throat> लेकिन रावण के जब अहंकार जब होता है व्यक्ति को तो उसके ऊपर जरा भी असर नहीं पड़ता उसका उल्टे घड़े की तरह जैसे उसे पानी भरे तो उसमें जरा भी बूंद भर भी नहीं जाता ऐसे अहंकारी व्यक्ति की बुद्धि उल्टे घड़े की तरह होती है विपरीत बुद्धि इसलिए उसको कुछ असर नहीं करता उसके ऊपर कुछ भी कहते रहो कुछ भी समझाते रहो <clears throat> तो हनुमान जी उसको समझाते हैं कहते हैं देखो राम चरण पंचोर जोर भगवान श्री राम जी के चरण जी अपने हृदय में धारण करो मन उनका स्मरण करो उनकी शरण में जाओ और फिर लंका अचल राज तुम करो और उसके बाद तुम लंका में अचल होकर के सदा के लिए तुम राज्य करते रहो तुम्हें कोई मिटाने वाला नहीं अब यही बात फिर बाद में हुई विभीषण भगवान की शरण में गया तो भगवान ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया और फिर राम विभीषण जो हमेशा के लिए लंका का राजा हो बस ये निर्णय अंत में हुआ कि विभीषण को राजा बना दिया जाए और उसको अचल राज्य दे दिया जाए लेकिन हाँ, ये राम नहीं माना ये नहीं माना है वही बात हनुमान जी समझाते हैं कि भगवान की शरण में तुम जाओ तो तुम्हें ये सब जो हो भगवान तुम्हें शरण में आने पर तुम्हारी रक्षा करेंगे और फिर तुम्हें <clears throat> यहाँ अचल राज्य तक तो भी तुम्हारा होगा तुम भगवान राम से विरोध करके इस प्रकार से चाहो तो तुम बच जाओ तो नहीं बच सकते लंका अचल राज तुम करोगे जस पुलस्त जस विमल में उनका अब ये फिर उसके कुल की बात जो पहले कहा था उसको क्योंकि देखो अपने कुल को विचार करके जो देखो निज तुम निज कुल विचारी तुम अपने कुल को विचार करके देखो कि तुम गलत काम कर रहे हो तो कुल की बात को फिर कहते हैं कि ऋषि पुलस्त जैसे विमल में उनका <clears throat> प्लस्त ऋषि तुम्हारे बाबा जो है वो ऋषि है और उनका यश चंद्रमा की तरह से है हम्म। और तेईस समागन हो कलंका उस चंद्रमा में तुम कलंक मत बनो अब प्लस्त ऋषि के वंश में पैदा होकर के रावण उनका कलंक वंश के लिए कलंक बन गया उज्जवल वंश नहीं रहेगा जैसे सूर्य वंश उज्जवल वंश है उसमें किसी का कोई भी इतने राजा हुए एक से एक प्रतापी राजा हुए धर्मपरायण हुए साक्षी हुए <clears throat> उनका सब उज्जवल वंश कहलाता है उसमें कोई कलंक नहीं लेकिन इसमें जो ये चंद्रमा का उदाहरण देते हैं जैसे चंद्रमा में कलंक ऐसी करके तुम्हारा यज्ञ पुरस्त का कुल यज्ञ चंद्रमा के समान उज्जवल है लेकिन तुम उसमें कलंक बन करके उसको जो आप मानित कर रहे हो निंदित कर रहे हो उसकी भी हिंसा कर रहे हो तो एक बात ये भी व्यक्ति को अपने कुल का भी ध्यान रख करके एक व्यक्ति तो पैदा हुआ और उल्टे सीधे काम करते हुए अपने जो है उसने निंदनीय कार्य किए और सब लोगों ने उसकी निंदा की और उसके कुल की भी निंदा हुई उसके वंश की भी निंदा हुई कि देखो ऐसे वंश में ऐसा मूर्ख पैदा हुआ ऐसा दुराचारी पैसा पैदा हुआ ऐसा भ्रष्ट पैदा हुआ इस प्रकार का फल जो फूल भी लगता है तो उसको स्मरण दिलाया तो देखो प्लस ऋषि तो का कैसा उज्जवल वंश और तुम उसमें कलंक बन रहे हो रावण जो है वो हनुमान जी ने देखा रावण को जाकर के और बातचीत करके सुना तो देखा कि रावण सब बातें करता है लेकिन राम नाम नहीं जीता उनसे है चाहे बनवासी कहे चाहे तपस्वी कहे चाहे राजकुमार कहे चाहे कुछ भी कहे भगवान राम को लेकिन राम नहीं कहते तो अब हनुमान उसको समझाते हैं राम नाम दिन गिरा में सोहा कि देखो राम नाम नहीं लेते हो तो तुम्हारी वाणी की कोई शोभा नहीं वाणी की शोभा राम नाम से है कहते राम नाम दिन गिरा न सोहा और देख विचार त्याग मद मोहा कहते हैं इस बात को तुम विचार करके देख लो और मद मोह को छोड़ दो हम्म? मतलब मोल के मैंने अहंकार के कारण व्यक्ति तो समझता मेरे समान कौन है अरे कौन भगवान भगवान होता है कौन परमात्मा परमात्मा होता है उसे क्या होता है अमित सब कुछ है ऐसे करके अहंकारी व्यक्ति को लगता है तो कहते हैं देखो इस अहंकार को तुम छोड़ो <coughs> भगवान की शरण में जाओ उनके नाम को जपो <coughs> बहुत बार लोग बाग इस प्रकार देखते हैं दुनिया की बहुत बातें तो करेंगे राम नाम मुझसे नहीं निकलेगा अरे राम हो चाहे कृष्ण हो चाहे शिव हो कोई नाम भगवान का निकले तो वे मुझसे नहीं बोलेंगे बाकी सब दुनिया भर की तीन बातें करा तो कहते ये वाणी की शोभा <clears throat> ये तो सब जैसे <clears throat> सुंदर सुंदर होता है तो फिर वाणी भी सुंदर वाणी होती है और, कुत्सित वाणी भी होती है क्रूप वाणी भी होती है तो क्रूप वाणी मैंने संसारी बातें और राजदेश की बातें और निंदा की बातें इससे ज्यादा क्रूप वाणी की कोई नहीं है निंदा की बातें करना ये वाणी की क्रूपता है वाणी की सुंदरता क्या है जब परमार्थ की चर्चा करो भगवान की चर्चा करो इनके वेदांत की अध्यात्म की इन बातों की चर्चा करो तब वाणी की सुंदरता है एक ये भी देखा गया है कि जब तक पाप भरे रहते हैं व्यक्ति के तब तक पापों का प्रभाव ये रहता है कि वो मुंह से राम कह नहीं सकता जैसे भजन कीर्तन हो रहा हो दस लोग बोल रहे हो तो जिसके ज्यादा पाप भरे होंगे तो मुंह से सब देखेगा सब बोल रहे हैं लेकिन स्वयं अपनी जो बात नहीं बोल रहे ये प्रभाव उसके पाप का प्रभाव इस प्रकार का होता है से बात राम का नाम भगवान का नाम मुझसे नहीं निकलेगा किसी व्यक्ति से पूछो तो देखो कि अपने हिंदू धर्म में पैदा हुए तुम जानते होगे कि भगवान राम का अवतार हुआ उनकी लीला इस प्रकार के हुई तो यहाँ सब जानते हैं सुनी भी यहाँ पे ऐसा कोई हो नहीं सकता जिसने भगवान राम की लीला न सुनी हो कृष्ण की लीला न सुनी हो ये तो सबके सब सुनते ही बचपन से ही सब सुनते आते हैं तो तुम किसी से व्यक्ति से कहो तुम भगवान राम की लीला के संबंध में क्या जानते हो जरा बताओ कुछ क्या हुआ तो बोल जिब्वा से शब्दों का उच्चारण नहीं हो सकता ये नहीं कह सकते कि परब्रह्म परमात्मा है उसने अवतार लिया अवतार लेकर के महाराज दशरथ के यहाँ <clears throat> आए और फिर बाल्य काल में उन्होंने ऐसी लीलाएं की ये क्या वो किया उनका स्वभाव इतना सुंदर शांत स्वभाव प्रेमी स्वभाव ये सब उनसे कहो ऐसे बोलो कुछ भगवान की लीलाओं का तो जीव उनको ही नहीं लेकिन अगर कहो किसी की निंदा करने को कहो तो चटपट चटपट ऐसे चलेगी जैसे कि एक्सप्रेस मेल हो एकदम से धड़ाधड़ धड़ाधड़ बोलते ही चले उसमें तो ये ऐसा क्यों है कभी कहते कहते वो कहते हैं हनुमान जी के देख विचार विचारों का पता लगेगा कि ये अंतर क्यों है तो जब तक व्यक्ति अहंकार होता पाप के कारण उसके अहंकार मद मोह आदि करते हैं और उसके कारण से फिर ये जो है वो अंतर दिखाई देता है जी अब इसमें कोई ऐसा नहीं होती है रूढ़वादिता हो या कोई डॉक्यूमेंटेशन हो सैनिटेशन हो ऐसा कुछ नहीं है ये नहीं कहते हैं कि तुम भगवान राम के ही चरित्र में वर्णन करो यही कहें कि किसी उदार से एकाध व्यक्ति के महान पुरुष का वर्णन करो चरित्र का तो उसका नहीं कर सके चोरों लाखों को कहो तो बहुत वर्णन कर रहे कहते भाई तुम भगवान राम की कथा में सुनाओ तुम राष्ट्र की कथा सुनाओ मोहम्मद अली की कथा सुनाओ वो कौन थे कहाँ थे क्या पैदा हुए चलो वही बताओ तुम किसी की इस प्रकार की बात नहीं कहो डाकू चोरों की कहो बात तो बता लुटेरों की धोखाधड़ी करने वालों की बातें कहो तो कुछ सुना दो ये व्यक्ति के संस्कारों का प्रभाव है ये मनोविज्ञान देखो इस प्रकार का है जो व्यक्ति विचार करे तो पता लगे कि मानसिक दशा ऐसी क्यों होती है तो कहते राम नाम दिन गिराम सोहा देख विचार त्याग मदमोहा बसन हीन नहीं सोह सुरारी अब देखो इस रावण को संबोधन जो करते हैं हनुमान जी तो उसको कहते हैं सुरार जैसे भगवान कृष्ण मुरार जैसे भगवान राम खरार जैसे भगवान शंकर जी कामार है जैसे तो रावण क्या है सुरार सुरार जो है देवताओं का शत्रु देवत्व कृष्ण है ही नहीं दैवी संपत्ति राशि संपत्ति दैवी संपत्ति का ये दुश्मन है, है? अपने अंदर दैवी संपत्ति तो आने ही नहीं दी आश्री संपत्ति को संग्रह किए हुए इसलिए इसको कहते हैं सुरार कहते हैं बसन ही नहीं सो हे सुरार बिना बसन के शोभित नहीं होती सब भूषण भूषित बरनारी कोई बहुत सुंदर स्त्री हो और खूब आभूषण वगैरह खूब धारण किए हो लेकिन बस रेखना पहने हो तो कैसी लगेगी है तब उसकी कोई शोभा नहीं इस प्रकार से कहते हैं कि देखो ऐसे ही जब <clears throat> जबकि दुनिया भर की संसारी भौतिकता वो कुछ भी उसमें हो उसके पास व्यक्ति को प्राप्त हो <clears throat> भौतिक समृद्धि चाहे इतनी हो गई हो माने आभूषण के स्थान पर क्या है भौतिक समृद्धि भौतिक समृद्धि व्यक्ति ने बहुत प्राप्त कर लिया हो धन संपत्ति मकान परिवार सब प्राप्त कर लिए हो लेकिन परमात्मा की भगवान की भक्ति नहीं परमात्मा में प्रेम नहीं उधर की तरफ उसका जरा भी ध्यान नहीं तो बस वो नग्न के समान है कहते हैं उसकी कोई शोभा नहीं ये सब विचार की बातें हैं एक एक पंथ के ऊपर ठहर करके विचार करना चाहिए कि देखो सात प्रकारों का ऋषियों का मत क्या है ये न समझो कि तुलसीदास की बुद्धि ऐसी हो गई थी कि वो हम कैसे बोलते रहे तुलसीदास ने पहले कह दिया कि हम कोई अपनी बात नहीं कहते ये सब जो मेरे व्यासाद ऋषि पहले हो चुके हैं वाल्मीकि आदि हो चुके हैं उन लोगों के सबके जिनके भी मत है उनका सबका सार ये है वो हम देते हैं अब आप दोनों तो इसी प्रकार के पंक्तियाँ भागवत ही मिल जाएंगे और स्थान पर देखो दूर की बात भागवत ही का बड़ा विशाल ग्रंथ है तो उसमें इसके सबके जो है संस्कृत के श्लोक मिल जाएंगे इसी प्रकार के और प्राण है सुख है तो कहते हैं बसन ही नहीं सोह सुरारी सब भूषण भूषित बर नारी राम विमुख संपत्ति प्रभुताई कहते हैं अभी भगवान राम से तो विमुख है हम्म, लेकिन संपत्ति प्रभुताई संपत्ति खूब है प्रभुताई मैंने राजा इत्यादि भी खूब है स्वामित्व खूब प्राप्त है <clears throat> और जाई रही पाई बिन पाई वो समझो कि बस वो नष्ट ही हो रही है और वो प्राप्त होते हुए भी बिना प्राप्त हुए समान ही है मैंने वो टिकने वाली नहीं क्षणिक न है भगवान से विमुख होकर के संसार में कुछ भी व्यक्ति प्राप्त कर ले लेकिन कुछ भी उसका टिकने वाला नहीं है ये दो पंक्तियां जो है बहुत <clears throat> भौतिकवादी लोगों के लिए सावधान करने के लिए दो पंक्तियां ये राम विमुख संपत्ति प्रभुताई जाई रही पाई दिन पाई और सजन मूल जिन सरकन नाई जिन नदियों के जिन नदियां जहाँ से निकलती हैं अगर उनमें जल का भंडार नहीं है तो नदियों का क्या दशा होगी ये बरस गए पुण्य जान सुखाई जब तक पानी बरसा तब तक तो नदियों में पानी है और जहाँ बरसात बीती तो सूखी पड़ी नदियाँ मैंने क्षण नदियों में जल का प्रवाह थोड़े दिन के लिए दिखाई देता है उसके बाद फिर सूखी पड़ी इसी तरह अब देखो इसमें विचार करो तो कितनी बात है आनंद है सुख है शांति है वो तो परमात्मा में है परमात्मा आनंद सिंधु है हम्म? शाम का स्वरूप है यदि उस परमात्मा से शक्ति प्राप्त नहीं हो रही है यदि उस परमात्मा का आनंद हृदय में नहीं आ रहा है तो भौतिक संसार भौतिक वस्तुओं की जरा देर में कोई वस्तु मिल गई तो थोड़ी देर के लिए खुशी खुशी लगेगी और उसके बाद में उसके बाद वस्तु नष्ट हो गई और फिर दुखी हो गई फिर दूसरी वस्तु चाहिए थोड़ी देर के लिए फिर सुख लगा फिर खत्म हो गया फिर कोई वस्तु चाहिए फिर मिल गई थोड़ी देर के लिए फिर सुख लगा फिर खत्म हो गया संसारी वस्तुओं का तो सुख है शैक्षणिक सुख है थोड़ा सा प्राप्त हुआ और प्राप्त होकर के सुख लग गया उसके बाद फिर खत्म उसमें कुछ करते संसारी वस्तुओं का सुख जो है वो भ्रामक है भाषित होता है तो सुख है इसलिए वेदांत में सुखा भाष कहा गया इंद्रिय सुख है विषय सुख है शारीरिक सुख है ये सब सुखाभास है सुखावास मैंने सुख नहीं है सुख का आभास लगता है परछाई है सुख वास्तव में सुख जो है आनंद है वो तो परमात्मा में है उदाहरण नदियों का अब जैसे हमारे पर्वत में तो बर्फ जमी हुई तमाम खूब पानी का भंडार वहाँ है इतना बर्फ है तो वो पिघलती रहती है साल भर तक और नदियों में वहां से जो नदियां निकलती हैं उनमें बराबर बारह महीने पानी बना रहता है बहता रहता बराबर बहता रहता है लेकिन जब हमारे पर्वत से नहीं निकली मैदान में ही कहीं बरसात हुई नाला जैसे हो गए तो जहाँ पानी बरसात तो सब समेट करके नाले में पानी आ गया तो नाला बरसात पर रहेगा और जहाँ बरसात खत्म हो गई जहाँ नाला सूख गया बस ऐसे करके संसारी सुख और पारमार्थिक सुख में इतना अंतर है इसलिए परमार्थ में भगवान का ज्ञान भगवान की भक्ति वो शासक शांति विश्राम सुख मुक्ति देने वाली है भौतिक सुख जो है वो आभास मात्र है क्षणिक है थोड़ी देर के लिए लगे और खत्म हो जाए इसलिए यदि भौतिक सुख भी प्राप्त हो संपत्ति प्राप्त हो तो भी उसके ऊपर भरोसा रह करके जीवन नहीं बिताना चाहिए परमात्मा की खोज करनी चाहिए परमात्मा को खोजे परमात्मा का ध्यान चिंतन करे उसका अनुसंधान करे उस पर आसक्त होना सीखे भक्ति लावे ज्ञान लावे तो फिर विश्राम शांति मिले परमात्मा को भूल करके फिर ये संपत्ति जो हो व्यक्ति जो है दिन दुखियों तो से नहीं होना पड़ेगा ये संपत्ति नष्ट होगी और दुखी भी अब लोग जो अपने जीवन में ही देखे जो दूसरे लोग भी बताते रहते हैं कि देखते देखते ऐसे ऐसे लोग थे जो राजाओं की तरह से रहते थे बड़े बड़े जिनके जो महल थे जो गंदे मकान थे हाथी घोड़े तमाम थे जिनके हाँ, वे सबके उनके देखते देखते वो सबके सब दिला गए और सब मकान धराशाई हो गए सबके सब उड़ गए सब वहाँ पर कौए कबूतर में हुए सब पास करते हैं और बस उनका सब को खत्म मारे मारे फिरने लगे पागल हुए घूमने लगे ये दशाएं लोगों की होती हैं ये ये भौतिकता के ऊपर भौतिक समृद्धि के ऊपर आश्रित रह करके कोई शांति विश्राम चाहे तो नहीं होता इसलिए परमात्मा अगर कोई पिता है परमात्मा का ध्यान चिंतन है उस पर आश्रित है तो ये संपत्ति न भी हो कुछ भी न हो तो भी वो शांत है तो भी आनंद है बिना इसके लिए बस यही बात व्यक्ति को समझ में आ जाए तो समझो भगवान की बहुत कृपा है उसके ऊपर नहीं तो व्यक्ति को यही दिखाई देता अरे भगवान के नाम से क्या होगा तो भगवान सलाह थोड़ा ही देगा अरे जब ये संपत्ति वो हो ये हो वो हो तभी तो जीवन में सुख है नहीं तो सब क्या बस इसके आगे बुद्धि काम नहीं करती है लेकिन शास्त्र संत लोग कहते हैं कि संसार की संपत्ति भौतिक काली जितनी भी है <clears throat> ये सब कोई टिकने वाली नहीं ये क्षणिक के नाशवान है दुख ही देने वाली है सुख देने वाली लगती है लेकिन है दुख देने वाली वो भय चिंता क्लेश आदि उत्पन्न करने वाली है लड़ाई झगड़ा उत्पन्न कराने वाली है लेकिन परमात्मा को सुख प्राप्त हो गया तो न कुछ होते हुए अगर भिक्षा मांग करके भी खाना पड़े लेकिन परमात्मा की भक्ति प्राप्त हृदय में हो तो उसके समान सुखी कोई नहीं शंकराचार्य का कथन कोटि में बनता खड़ु भाग्य बनता कोटि में बनता जिसके पास एक कोटि रह गई और कुछ नहीं हम्म? व्यस्त है बिल्कुल भगवान के कहने में हाँ? भाग्य बनता खल बने निश्चय बनता उसके समान भाग्यशाली कोई देखो ये लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं हम्म? इसमें कुछ सत्यता है नहीं तो इतनी जोर से दृढ़ता पूर्वक कैसे कहते वो भी न बनता खलु भाग्य बनता लेकिन व्यक्ति की जो संसार में संसार चारों तरफ संसारी लोग संसारी बुद्धि संसार में उसी प्रकार का वही काम क्रोध आदि विकार वही लड़ाई झगड़े वही मारकाट उसी के बीच में दिखाई देता है कि संसार तो ऐसा ही है बस इसी में रहना है और ऐसे ही हुआ करता है इसके अतिरिक्त और है ही क्या कुछ उसी में मरते खपते रहो बस प्राण देते रहो उसी में ऐसा दिखाई देता है राम विमुख संपत्ति प्रभुताई जाय रही पाई बिनु पाई ये कहते हैं कि पा करके भी ये संपत्ति बिना पाए के समान है तुम्हें तो लगता है कि पाई लेकिन कहाँ पाई कुछ नहीं दूसरे प्रकार से अगर देखो तो ये सब माया में है माया में जादूगरी की जादू जैसी वस्तु दिखाई देती है कुछ नहीं स्वप्न का दृष्टांत देख लो जैसे स्वप्न में कोई रंग से राजा बन जाए तो कोई थोड़ी राजा बन जाओ जागने पर क्या सपने हो दिखा तो, रंग को रंग नाग पति हो जागे लाभ हानि कर जा करके देखो तो उसमें देखो जागने पर भी कोई राजा वाजा कुछ नहीं झूठ बात क्या टाइप राजा तो स्वप्न था ऐसे इस जीवन में भी अगर कभी कोई कितनी भी संपत्ति कुछ भी प्राप्त हो जाए तो वो क्षणिक उसके जीवन में ही देखते देखते नष्ट हो सकती है और नहीं तो जहाँ शरीर छोड़ करके गया तो उसके साथ तो जा नहीं सकती तब तो नष्ट हो इसलिए कहते राम को संपत्ति प्रभुताई जाई रही पाई बिनु पाई सजल मूल जिन सरितन नामी सजल मूल के माने यही है कि वो जहाँ जल का भंडार हो या तो कोई बहुत बड़ी झील हो उसमें से नदी निकल रही हो या पर्वत हो जहाँ पर की बर्फ खूब जमी हो वहाँ से नदी निकल रही हो तो, तो उसमें पानी बना रहेगा नहीं तो वरना पानी नहीं रहेगा तो सजल मूल मैंने जैसे नदी नदी का सार जल है और जल के लिए मूल में भंडार चाहिए इसी प्रकार सुख जो वो हो उस सुख का भंडार कहाँ से जहाँ से सुख प्राप्त हो रहा है वो तो परमात्मा ही है वहाँ से अगर परमात्मा का आनंद सुख प्राप्त नहीं हो रहा है तो परमात्मा का आनंद तो अक्षय है अविनाशी नित्य रहने वाला है तो वो तो बना रह सकता है हमेशा और बाकी संसार विषयों का सुख जो माया में है आभास मात्र ज्यादा दिन रह नहीं सकता सजल मूल जिन सरी तन नाही बरस गए पुण्य कदम सुखाई और सुन दस कंठ कहा रोटी तो कहते हैं दस कंठ हम फल रोक करके माने बड़ी दृढ़ता पूर्वक प्रतिज्ञा पूर्वक तुमसे कहते हैं भर राम प्राता नहीं होती भगवान राम से विरोध करके को अपी कोटी मैंने है को अपी संस्कृत का शब्द है को अप मैंने कोई भी कोई भी वो भगवान से जो भगवान राम से प्रमुख है प्राता बने उसका रक्षक दुनिया में कोई नहीं भगवान का विरोध करके अगर कोई व्यक्ति चाहे तो वो कहीं बच जाएगा ये संसार विनाश लीला में संसार में जो विनाश लीला चलती है उसमें उसके कहीं कोई रक्षा कर लेगा तो कोई रक्षा करने वाला नहीं कोई बचना नहीं बचाने वाला नहीं उसका तो विनाश होगा ही होगा और वो दुखी भी होगा शंकर सास विष्णु वजित वही और रावण को समझाते हैं हनुमान जी कहते हैं कि एक ब्रह्मा जी रावण ने तपस्या की ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया शंकर जी ने वरदान दे दिया रावण को कहा कि देखो कि तुमको मरदान को छोड़ करके कोई तुमको मार नहीं सकता तुम समझ लो अमर हो गए हो लेकिन कहते हैं हनुमान जी कहते हैं कि चाहे एक शंकर एक ब्रह्मा जी चाहे हजार ब्रह्मा आ जाए चाहे हजार शंकर आ जाए और तो तुम्हें तमाम वरदान दे लेकिन तुम्हें कोई बचा नहीं सकता शंकर साहस हजार संकल्प और विष्णु अज तो वही हजार विष्णु आ जाए हजार अज ब्रह्मा जी आ जाए वो भी तुमको सतह रात राम कर द्रोही या तुम परमात्मा का द्रोह करते हो उनका द्रोह करते तो ये भी तुमको रक्षा नहीं कर सकते क्योंकि ये सब भगवान की सेवा में लगे हुए हैं ब्रह्मा विष्णु महेश भी पर ब्रह्म परमात्मा की सेवा में है उन्हीं के अंश हैं उन्हीं की कृपा चाहते रहते हैं और तुम चाहते हो कि ये तुमको तुम्हारी कोई रक्षा कर लेंगे तो भगवान राम का विरोध करके तुम बच नहीं सकते ये तो इस प्रकार के करने का तरीका अपना पौराणिक है संसार में अपने भौतिक जीवन में देख लें कोई व्यक्ति समझे तो हमें ये बचा लेगा वो बचा लेगा कोई आसरा करता है मित्रों पर कोई आसरा करता है पुत्रों पर कोई आसरा करता है अपने धन संपत्ति पर कोई परिवार पर कहीं किसी पर कहीं किसी पर लेकिन कोई किसी को बचा नहीं सकता एक परमात्मा ही रक्षा करने वाला वही शाम को शरण देने वाला है बाकी सब लोग तो जो है वो हो तो वो अपने अपने स्वार्थ में जब तक जिसका स्वार्थ कथित होता है तब तक तब तक किसी को पूछता है नहीं तो कुटिया को नहीं देखता है ये सब जगह लीला संसार में चलती है स्वार्थ लाज करी सब प्रीति सुरंदर मुनि सबके रीति संसार में संसारी है संबंध इसी प्रकार के इसके माने ये नहीं सबसे डर करो लड़ाई झगड़ा करो लेकिन किसी भरोसा मत रखो भरोसा रखो तो परमात्मा पर रखो बस वही जो है वो परमात्मा के नाते से सब नाते हैं अगर नाते भी मानो तो लौकिक स्तर के ऊपर कोई नाता नहीं नाता है तो परमात्मा के नाते से नाते सदै राम के मन में जितने भी मान नाते से संबंध है वो परमात्मा से संबंध है तो संबंध है जिससे हमारा संबंध है उसका भी संबंध परमात्मा से हमारा भी संबंध परमात्मा हम भी परमात्मा को सहमत तुम भी परमात्मा को सहमत तो चलो हमारा तुम्हारा हो गया कुछ तो काल में लेकिन ये तुम कहो कि हमारा परमात्मा से कोई संबंध नहीं ये इसलिए कहते हैं ये <clears throat> कि शंकर साहस विष्णु अजित हो ही अब इन्हें ब्रह्मा जी ने और शंकर जी ने इन्होंने रावण को एक और तो बरदान दे दिया कि तुमको डर माने छोड़ करके कोई मार नहीं सकता और जब रावण के मरने के समय आया तब वही ब्रह्मा जी जामान बन गए और वही शंकर जी हनुमान बन गए और वही रावण को उपदेश देने लगे कि तुम परमात्मा को तुम जरूर कर रहे हो बस यही सब तुम्हारी गलती है अब तुम्हें हम भी नहीं बचा सकते सब लोगों के प्रति दया भाव प्रेम भाव स्नेह भाव सबके ऊपर सामान्य रूप से आ गया ये हृदय में जागृत हो गया जहाँ भगवान आ गए तो ये सब के सब उत्पन्न हो जाते हैं कमन मूल फला क्या जो है ये ये भी सप्तम के ही सूचक उनके सबके कहेंगे ये सबकी उत्पत्ति होगी सब सातों वृत्तियां आ गई सबकी सभी है फिर देखते हैं कि वहां जो जो एक बहुत सुंदर गुफा है जिसमें गुफा में भगवान वास करते हैं ये तो सर्वप्रसिद्ध गुफा है तो को देखो तो हृदय गुहा हृदय गुहा सब लोग कहते हैं उसमें हृदय गुहा के भीतर भगवान का वास है अगर भगवान को ढूंढना तो कहा मिलेंगे अचानक समझो जिसे कहते हैं मोह मूल बहुसूल प्रद ये तुम्हारा अभिमान ये तुम्हारा अभिमान का अंधकार अज्ञान ये सब मोह मूल और तो ये सूर्य प्रद है सूर्य प्रद तो वाला दुख देने वाला है अभिमान के कारण ही व्यक्ति को नाना प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं विनाश होते हैं परेशानियां होती हैं जीवन तो इस अभिमान से बचो मोह के कारण ये अभिमान उत्पन्न होता है मोह के माने परमात्मा का ज्ञान नहीं उसी से विरोध कर रहे हो संसार को सत्य समझ रहे हो विषय भोगों को सुविधाएं समझ रहे हो यही तुम्हारा जो ये मोह है इस मोह के कारण तुमको अभिमान हो गया अभिमान हो गया तो ये अज्ञान है तुम्हारा अंधकार के समान अभिमान है इस अभिमान को छोड़ो भजो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान रघुनायक भगवान श्री राम जी का भजन करो वो कृपा निधान है उनकी शरण में जाओ तो तुम्हारा मोह दूर हो तुम्हारा अभिमान दूर हो तब तुमको शांति विश्राम मिलेगी जीवन का सुख इसी में जब अहंकार विनष्ट हो तभी शांत विश्राम शांति सुख की प्राप्ति हो विवेक तिरत नानी बोला विहस मानी